no, no. दीदी तो लाला दे दे सूत में मोती को जो का तारे सूत में जो गाला के पान सा कालो रे जी गाला तेरे

तार गोरी गोरी सगत टावन आज घेरे मौली सनकारी भोजना या सगति के यो

गुरु जी महाराज देख बोला देख रही मकर भोई केवल राम निज बोली घोड़ी ने श्रृंगार हाँ तो बोली घोड़ी श्रृंगार देकर मकर लाख लाख का तो धड़े घोड़ी देखी सुआ लाख का धड़े पायरा मोरा लगा दे है बना का लाला जुड़ते घोड़ी की लाल लगा कस्तूरा मोती बाड़ा बाड़ा में बोले काटा सूत में मोती मोहरा पो पो के घोड़ी के गला में बांध दे सवा मन को सांगो दीजे बोली घोड़ी के तो बांध गला में पर हाँ पाले बांध दे एवं घोड़ी की लाल लगा रेशम धक्की लगा दे पार चांदी की घोड़ी की खुटा पौड़े घोड़ी के एवं राज वो यहाँ का दलकार थे घोड़ी को चुप श्रृंगार कर और भवर भोज तैयार हो जाए भवर भोज का भी कहीं श्रृंगार हुए तब राज हाथ में ले जाकर तो राम तेरा का सुगरा थे बगल ढाल करवा ताम भली बांधे पार सोना का तुर्रा उड़ गया सूतन लाल गुलाल भोज जी का बागा कड़ी पचास का और घोरी के बगल ढाल पड़ी नंदी करवा ए मधान जब घोड़ी के पगहा पायड़ धरे और घोड़ी के जो अश्वार जो घोड़ी को जाए तो कहीं अश्वार घोड़ी को के और भोजी जावा ना गया शंकर महादेव देख बोले के लेकर भर भोज कहा कहा जो तू संग्राम जो जीते और रणभाग में जो लड़ाई हुए तो जो बोली घोड़ी के बाढ़ बाढ़ में जो रूम रूम में ये मर्दा भला जो टूट जाओगा लड़ाई में और बौड़ी बौड़ी घायल हो जाओ तो यह गुरु जी का स्थान पा के और यह फकूत लगा दे सवा मणि शीशो को और पाची पाची गुरु जी तावा मणि से हो जाओगी और फिर भी तू संग्राम लड़बड़ा जाए छह जमीना था जो संग्राम में लड़ोगे तब भी घोड़ी आ गई तो बड़ेगी बात पर पाची ये ले गया और कहीं लगा भोज जी पेट घोड़ी पे और कहीं अब चोरी सी भया में जावे Gory pe, Yashivari Rama, Goto Yoyote yo pe, Yashivari Rama.

तस्वीर वारदार पे जा देखना समल कतनी तो लायो राम गवारी अब कतनी तो लायो रे

वो जी घोड़ी पे आर घोड़ी पे जो साधनो मार दे तो घोड़ी पे अडवना तो तो घोड़ी असमाना सु बात करवा के वास्ते ला रही थी घोड़ी जी एकदम से जो तो इस बेटा बृहद था वहाँ विराजमान तो इसी भाई जी विराजमान हो जाते जाजम की बकरी के सेंधा भाई जो विराजमान हो जाते बहुर भोजी ना तो देखता है सेंधा भाई उसके राम रमोल के को दादा भाई जी गाय की ग्वाली कितनी लाया कितनी लाया माने जरूर से फिर बताऊँ जितनी कड़ी सौदाएं खोज लीजिए बहुत खुशी और प्रश्नों का अखबार आई तो ऐसा हो माया तो उतनी दे दी गुरु जी ने जो कोई बात की चिंता की मत करो एक लाख तो माया उठा दी और सुहा लाख जो खजाना मिले हो बारह वर्ष की माया और बारह वर्ष की काया और एक वचन में गोली खूब अच्छी तरह प्रेम तो माया ने यहाँ के मना उसे मानो और आशा उसे उड़ाओ माया कोई बारह वर्ष की बाढ़ या फौजी ने छोड़ता है सब भाया कर प्रेम वर्ती जोगता चूपता बेटा बहुत जा जाते भोजी बोला करे तो बेटा बहुत रहता सब में बड़ो बड़ो कौन थे दादो तेज इन्हें देखा माया किसी माना और किसी माया ने पा आप हम बड़ो थे यो कहीं आप राही लगाओगे तो तरीके दादा तेजी और क्या थे तो कहीं लगा दादो तेज जी માયા માણવાથી અકલ બતાવે છે 干嘛呀？

বলে ভবারি রে বহু জিনেওয়া তার মন বুকু তামস रावण आप और भोज देख बुढ़ा के देखो आप हम बड़ो दादू तेज जी के तो आप बड़ा भाई ने पूछा देखा मैं अक्षी रही तो आप माना तेज जी देख बुढ़ा के देख रहे तो ऐसा सब भाई थे बैठा लोग तो एक बात बताऊं वो कौन है अच्छी माया मारो तो आप दिन को अंबर नाम रह जाओ देखो दादाजी किसा आप कहेगा किसे जो आप तो बुढ़ में चला दादो तह की देख बोले देख रहे तो इस बेटा बना होता हूँ खाड़ो तो खोद दो खया दिन में खोद गए और माया ने सीधी जो खया में पटक के और ऊपर पट्टी डाल के और शीशा पुआ गया कोई हलाओ कोई चलाओ मत माया क्या दिन को ही दिन काल दुकाल पड़ेगा अजो कोई पर्दा उठेगी उसी टेम जो आवा माया ने खोज लेंगा तो आती पर्दा में सबने मसवा लेंगा वाने ढाब लेंगा या कड़ी के ताई छोटो छोटो नेव सरदार तो नी का तन बदलने का दम से जो हरी में जोश आई लेकिन दादा नीता से एक मजूरी करता करता एक आशे तो गुरु प्रश्न होकर माया दी और फिर भी तू उड़ी गिड़ाओ दादा यह बात थारी कोई मारा पसंद नहीं मारुड़ा जो खाल खोजो बदल की काम नहीं जो तो तू बड़ो से बात हो काई तो होनी तो दादा ಯಾಕೆ दादा तो तेज जी तू बाण्या को मारे थी और बाण्या की पेट को तुझे दादा भाई विजय को थारा जो माया नहीं ठासे तो गुरु जी सुलाया तो पर फिर भी उन्होंने निगड़ा दादा भाई या बात वहां कोई पत तो माया ये मरधाम मत जी जो सोम ये गार्ड रोडी जाओ दादा कोई माया का कोयला बन गया तो फिर कहीं करूंगा की आवाज माथा पसंद कोई ना ने वो सरदार देख बोलो देख दादा भाई तू बहने को भरे दे बहने हम भी काले चाल ये वो रात तब नहीं माने पहाड़ी नहीं माने तो होती और वह सभी चाले से तू बहने की दादा पटम बहने आज की बंदी दे माने सारी बात तू बोलो जब कच्ची माने चेंज की बात करती ना यह बात महाराज से ना देखो दादा भाई यह बात समझ में छोटो छोटो नियोजित पीर बहादुर आदमी तुमने जरा भाई माया तो मैं बताऊं अशे मारनी चाहिए कि देखो माया एक लाश तो उठावा सवाल खड़ी हो दे सीधा फेल कर दिया दादा भाई और माया नशी तो माना आपा जो आपो की जमीन बना हो जाए इसी तो माना देख दादा भाई मैं एक बात बताऊं कि माया तो मानी बड़ी ये तो शांति भरी कवा अरे घोड़ा तो फेरा बला तो सीचा बना लवा होने वाला मायावर जी के तो मारनी चाहिए और जी के घर में घोड़ा के तो भेजा बना और जी के घर में सत्तर पासी तो लड़ा हुआ तो समझो जो सात तारे ने तो वो सत्तर चूका कोई ना और जी का घर में वो निवार थे उनको जो रोजी ना अपने पात्र पानी कर तो रहे तो बढ़िया पानी रखी तो दादा भाई माया मानी भरी एक शांति भरी गवा घोड़ा तो फिर बना तो इस बेटा निवाण सोच के सिंचाई बना दी तो दादा ये की और कोई के तो यहाँ तो करता रहने वही बढ़िया रहे या श्री कड़ी स्फूर्ताएं भोजी देख बोले को दादा भाई नेवा सरा माया माना ये दादा माया तो एक बात है कि जोश तो माना आप बारह वर्ष आई तो रेत तो रेत तो माया ने कर दिया और फर्क में बाबा बहुत जबरो जबरो नाव को मार वो नेवा सरदार माया ठीक बार की माना दादा भाई गोठ में चला गया ने खेत और गोठ में ले जाते गोठ में सुनो बादली इतना पार दीजिए तो गोठ में जाके और तुलसी बैठा होगा लगा दिए थे और गया में गया में जो गुआर बेल दिया थे जो गुआ के पास माया आ गई तो गया सराबा का जो नापा साढ़ा तीन सौ नापा नौने की गया में जो उछार दिया जो तो इस बेटा बगड़ा होता ने ये तो बढ़िया सी जाजम स्वामी और पासा सीताम का एक बढ़िया सी चौपड़ सुना और तकरीबी जाजम है छुआके और में विराजमान हो जावे प्रभात को खेल खेल जावे बेटा बगड़ा होती और डोली डाल ढाल के और गोली डाल के नकली तलवार ले लेके रोज जीना इस को पास खेल बा वास्ते लाग जावे बेटा बगड़ा होते बोला मेरे को बनाओ आपने दादा भाई के घोड़ी बोड़ी घोड़ी के और आपने और भाई घोड़ी बोले तो खा और बताना घोड़ा खरीद लावा और फिर माया ना आवा માણા કાંઈ જણા ખાઈ જવા બધા આવે કાંઈ ઘોડા ખરીદી કેટલી કર લાવ मेरा अपजन मोहला रे ये महारावत के बोर गोरिया बपा

भक्त दीवाने खरीदा रे सकरी की हे राम जाज नर सकरी की जीव याद जय जय मंगला रे राम हसती देवाने खरीदी ना बेटी बेटा बढ़ाओ घोड़ा खरीदवा के वास्ते जो जल्दी आ तो देश देश में भरता जावे घोड़ा कहीं भी पसंद ना आया वाड़ में जाके और घोड़ा जो बजे हजक तबला में जार तो इस बेटा बुढ़ा होता ना घोड़ा पसंद करिया तो महाराज के तो घोड़ी बोल दादा की कड़ियार नेवा कमर को घोड़ो नोल को जो समाना सुबह था करे जे मंगला हस्ती खरीद लिया थे जहाँ का घोड़ा का और हत्या का जो अर्बोदय बोल घोड़ा देवाला धनी के जगह श्रीना था तुष तो बगड़ावता हूँ घोड़ा को बोल तुम आपको अर्बोदय बोल ये दाणो खाओ ची तोबरा में इन्हें तो जो माया सु भर जाओ और घोड़ा में छोड़ दो जो घोड़ा का बंजा रखे तोबरा था जाने बगड़ाओ तो माया में सु भर भर और धनिया ने संभला संभला और घोड़ा में पकड़ पकड़ और आपके कब्जे कर दिया चौबीस बेटा बगड़ा था ना खाजा वारदार घोड़ा खरीद लाया थे वे घोड़ा भर से डरना साहब डगा सो चाल चाले परनाला घोड़ा पानी पी जहाँ पर रोशवा और जे मंगलिया हंसी वहां पे जो बोरिया फट दीजिए भूमिया जहाँ मैं जो हीरा मोती भर भरबल और तू इस बेटा बघाओ जी गोट मारे घोड़ा पे तू इस बेटा बघाओ तो स्वार होके और रनी रंगीली गोट में जो फाते आन पूजा तो कहीं देखा साढ़ा तीन सौ गाय का गुआ है नापा वे तराव से भमर भोज की गाय था पर बहात राणा जी को गाया जी भी मार भेड़ जी तो इस बेटा बघाव जीवन का सिन्हा में देख बोला के देखो दादा भाई राण और गोट के बारह बारह कोष को पेश होते तो आपने गया शंकर की कला से आपने नौ लाख गया थे कोई बात की कभी कोई नहीं और यो राणा जी को राज छे बहुत काफी लंबो दौड़ो थे तो ये का सुनाई जो माल आपने गया थे तो रोजिना की राड़ राणा जी આવે છે તો આપણ કશું કામ કરા કે હીરા મોચા સુ તો ઘોડા का तोबरा गया हर बढ़िया बढ़िया घोड़ा ना सड़गा और अच्छी हो तो आज आप राणा जी शुभ आई बांध रहे साल तो राणो जी अपना तीन गुना माफ कर दो फिर आपने गाय की चिंता नहीं रहेगी फिर आप लोग दंद रात तो फिर कोई खेल वो रह जाओगे और के हरी तो घोड़ा थी दौड़ा लेगा और कोई दुनिया भर का सेना की आप खेल करवा दो चला गया यह सभी भय के मन में चले जैसे हे मर्दाओ आज घोड़ा संगाल लो और आज तुम राणा जी सुन भाई लिपड़ो करवा राण में चला तो भाई सोच में अवघाव घोड़ा श्रृंगार और कहीं राण में भाई विचारों करवा के से जाओ

Absolutamente. भवानी के पानी